Упражнение 2. Произнесите. अड़ा आड़ा बड़ा कड़ा जाड़ा फाड़ा कड़ाई लड़ाई पड़ोसी बड़ी कड़ी नाड़ी कुल्हाड़ी बेड़ा बीड़ी चिड़िया गंडासा चूड़ियाँ बेड़ियाँ भेड़िया चुड़ैल आड़ तोड़ छेड़ बाड गुड़ भेड़ भीड़ लड़का लड़की खिड़की पढ़ना पढ़ती गड़बड़ अढ़ा आढ़ा बढ़ा गढ़ा कोढ़ा बूढ़ा बढ़ाव लुढ़कना मेढक बढ़ी कढ़ी कोढ़ी बुढ़िया बढ़े दाढ़ी सीढ़ियाँ बाढ़ साढ़ डेढ़ चिढ़ गढ़ पढ़ना गढ़ना गढ़ती लुढ़की मढ़ना बढ़ गए